लक्षित वाले हम शुद्ध को करेंगे क्यों शुद्ध का तो कोई शब्द प्रयोग ही नहीं कर सकते शुद्ध व्याख्या नहीं हो सकती ना शुद्ध का व्याख्यान कैसे करूंगा एकमेव अद्वितीय तत्व हम शब्दों के द्वारा उस वस्तु को एकम एव अद्वितीय ये क्यों कह रहे हैं सापेक्ष एकम का व्यविच्छेद्य है हाँ, अद्वितीय का व्यविच्छेद्य है सबका व्यविच्छेद हमने मान रखा है जो जागृत काल में व्यविच्छेद अनुभूति हो रहा है इनका व्यविच्छेदन करते स्वरूप की ओर आपको लक्षित करने के लिए शब्द प्रयोग हो रहा है इन शब्दों के द्वारा ये मत समझिए कि मैं शुद्ध ब्रह्म का व्याख्यान कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं हो सकता शब्द जहाँ के लक्षित करते हैं इसलिए एक बार शिवान आश्रम में पहले हर साल छोटे महाराज जी जाते थे सावरा सप्ताह होता है गुरु पूर्णिमा बाद में करते हैं सावरा सप्ताह तो उसमें क्या हुआ कि छोटे महाराजा के उद्घाटन प्रवचन देके आते थे उनके श्री छूटने के बाद में मंडेश्वर जी जाने लगे और पच्चीस साल पूरा हुआ सारा सप्ताह का रस्त महोत्सव मनाया गया उसमें इनका अष्टादश अंक और अष्टादश क्या रखा कहते भाई आप ब्रह्मसूत्र अष्टादश कीजिए ब्रह्मसूत्र अष्टादश किया अष्टादश संपन्न होने के बाद में तत्कालीन जो महामंत्री थे कृष्णानंद जी महाराज उन्होंने प्रश्न रखा तो ये आपने पूरा ब्रह्म सूत्र बहुत ही सुंदर सा किया एक जिज्ञासा पूर्वक हम पूछ रहे कोई उदंडता पूर्वक या अहंकार या विद्वत्ता हम तो कुछ जानते ही नहीं है वैसे तो हम सामान्य रूप से जो पढ़े हैं उसके आधार पर हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने पूछा कि इस पूरे ब्रह्म सूत्र में कि शुद्ध ब्रह्म का लक्षण किया गया है आप जो है मंडलेश्वर छोड़ी क्या जवाब है ये इन्होंने कहा कि भाई जन्मादेश था जन्मादेश तो कैसे हो सकता है तो मंडल से आगे जवाब देने के था ही नहीं दो चार बातें हुई होने के नाराज हो गए और कहने लगे अरे जहाँ तो आश्रम में आ जाना पढ़ना विद्यार्थी बंद करके ढंग से ये शास्त्र सभा नहीं है नाराज उठ करके चल ये कोई जवाब नहीं है लेकिन कि वास्तव में जो भाषकर खुद ही कह रहे हैं सर्वत्र आपको क्या मिलेगा केवल कारण में मिलेगा लक्ष्यार्थ तो व्याख्या करते रहिए लक्ष्य रूपेण कथन करिए जितना भी कथन करोगे वो शब्द राशि से जो कथन होता है निर्गुण का कथन नहीं हो सकता वास्तव में कहीं लक्षण नहीं शुद्ध ब्रह्म कोई लक्षण कर ही नहीं सकता किसे लक्षण करोगे जो निर्धर्मक है निर्गुण है निराकार निर्विशेष से तुम कह रहे हो जिसको अब लक्षण किसे करोगे असाधारण धर्म लक्षण अभी क्या कोई असाधारण धर्म है क्या शुद्ध ब्रह्म लक्षण कैसे करूंगा ये जो लक्षण किए जा रहे हो कारण ब्रह्म का लक्षण हो सकता है और कारण कैसा कारण इस पर अलग बात है उपायन कारण है या केवल निमित्त कारण है अभिनिमित उपायन कारण है किस प्रकार का लक्षण किया जा रहा कारण का वो तो एक अलग बात है वो हम कर सकते हैं किस प्रकार का मैं कारण मान रहा हूँ ब्रह्म को कारणत्व प्रदेश विशिष्ट ब्रह्म का स्वरूप लक्षण हम कर सकते हैं शुद्ध ब्रह्म का लक्षण तो कर ही नहीं सकते तब खंडन खंड पढ़ो ना और विशिष्ट रहा है इसलिए आप कह दिया ना निर्धर्मकम ब्रह्म बस हो गया निर, निर्धर्म कत्ता छिन्नम ब्रह्म कह दिया निर्धर्मकत्व भी तो एक धर्म है निर्धर्मकत्व भी एक धर्म है अभी तो धर्मवान हो गया कि नहीं हो गया कम कमाल पूछा उसने खंडन खंड खाद बड़ा गजब है एक एक पंक्ति बड़ा आनंद आता है पढ़ने वास्तव निध्यासन ध्यान का ग्रंथ है बहुत ही आनंद आता है बड़ा सुंदर समझाया कहते नहीं ये भी धर्म नहीं निर्धर्म भी धर्म नहीं है निर्धर्म जो कह रहा हूँ भाव निर्देश कर रहा हूँ वहाँ भाव निर्देश कर पूछे हम बहुरी समाज कर चुके हैं निर्गता सर्वे धर्म यस्मा निर्धर्म तस्य भावतम निर्धर्मकत्व कभी ये जो निर्देश किया जा रहा है ये लक्षित ही कर रहा हूँ बहुरी समय अन्य पदार्थ का निर्देश मात्र हो रहा है अन्य पदार्थ के लक्षण नहीं कर सकता है बड़ा विचार है खैर तो कोई कहने का तात्पर्य ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि कोई भी शब्द को ले मत समझे आप निर्गुण का कोई लक्षण कर दस सकता है सर्वत्र श्रुतियों में कहानत्व को भी उपदेश हुआ है अतएव अक्षरा परत पर सबायाभ्यंतर तो तो वाचो दे नेति नेति इत्यादि ना बीजत्व अपने व्यपदेश ऐसा वाक्य करते क्या इसलिए उस बीजत्व का भी निषेध करता हुआ शुद्ध को उपदेश करने की चेष्टा किया है ताम अबीज अवस्था वह जो अबीज अवस्था है तस्व प्राग्ञ शब्द वाक्य से दिहा समुद्र समुद्रहिता पारमार्थियम पृथक वक्षते इसी प्राग्ञ शब्द वाच्य जो कारण है उसी का देहाद संबंध रहिता तुरत्व की अवस्था पृथक वक्षती इन सब को निषेध करके इस कारण रूप का निषेध करके तुरी की व्याख्या इसलिए करेंगे हम कि ये जो क्या है प्राण शब्द वाच्य कौन करता कारण का अव्याकृत इसका निषेध किए बिना तुरी को आप लक्षित नहीं कर सकते इसे तस्व प्राप्ति शब्द वाच्य देहादि संबंध रहता पारमार्थिकी उसको पहले ले रहा हूं वही कर रहा हूं वो जो अबीज अवस्था का कथन कैसे करोगे आप ताम अबीज अवस्था को नहीं बोलना अभी पहले लो तस्व प्राग शब्द वाच्य से कारात्मक से अव्याकृत देहा देह पारमार्दिकी पारमार्थिकीम अभिजवस्थानता तुरीयत्व पृथक वक्ष भाषाकार पंक्ति भी से लिख दिया है आगे पीछे करके जान करके इसलिए वह यह जो कारण शब्द प्राप्त शब्द वाच्य जो कारण ब्रह्म है जो देहादि संबंध वाला करके हमने ग्रहण किया था उससे रहित तो जो पारमार्थिकी है अबीज अवस्था है उसी को तुरय तुरय राम से कहते हुए पृथक आगे में कहेंगे सात मंत्र में आएगा इधर छह मंत्र पर विवेचन चल रहा है बीज अवस्था बिना किंचित दवेशमिति उत्थितस्य प्रत्युत दर्शनाथ देह अनुभूयते और इतना ही नहीं अनुभूति प्रमाण भी श्रुति हेतु दिया पर आगम प्रमाण दिया है ना और आगम प्रमाण में भी स्वागम प्रमाण दिया फिर इसी उपनिषद के एश सर्वेश्वर इत्यादि मंत्रों को लिया एक ही भूत प्रज्ञान गण स्वागम प्रमाण और परागम चांदी के प्रमाण के रूप दिया और अब कदम अनुभूति भी है जो सुषुप्ति में अनुभव हो रहा है वो बीज अवस्था है शुद्ध ब्रह्म नहीं है इसमें प्रमाण क्या है कदे न किंचित अविद्या स्पष्ट दिख रहा है यहाँ शुद्ध ब्रह्म हो जाए तो कहेगा क्या न किंचित अवेदिशम स्वरूपमेव अवेदिशम सच्चिदानंद रूपमितेव अवेदिशम ऐसी क्यों नहीं बोला यदि वो शुद्ध अनुभूति कर गया वहां शुद्ध में लय हो गया है उसकी अनुभूति यही होनी चाहिए मैं सच्चिदानंद रूप अपने आप का अनुभव किया मैंने यही जाना कि मैं सच्चिदानंद रूप हूँ ये उल्टा कह रहा है मैं यही जाना मैं कुछ नहीं जानता हूँ बताओ यही कह रहे हैं न किंचित अवेदिशमिति उत्थित प्रत्यय दर्शनार्थ दे, अनुभूयत एवं मैंने देहे बीजावस्था भी अनुभूयत एवं त्रिधा देह व्यवस्थित तुच्छत है इसलिए हम कह रहे हैं त्रिधा देह व्यवस्थिता तीनों ही अवस्थाओं में उस शरीर में ही रह रहा है दो कार्य भाव से रह रहा है शरीर में और तीसरे में कारण भाव से भी इसी शरीर में रह रहा है इसलिए हमारी जो कथन है त्रिधा देह व्यवस्थिता ये कोई गलत नहीं है इस प्रकार से त्रिधा आत्मभेद का वर्णन किया त्रिधा आत्मभेद के शब्द प्राप्त हो गया विश्व नामक मैंने विश्व मैंने जागृत काल को लेकर के हुआ और स्वप्न काल सुशुक्ति काल को लेकर आत्मत्व की व्याख्या और अब स्थान वेद को लेकर के भी कहेगा फिर भोग वेद को लेकर के कहेगा फिर तृप्ति भेद को लेकर के चार प्रकार से वर्णन हमें करना है पहला श्लोक आत्मभेद का था और दूसरा श्लोक स्थान भेद को लेकर था और तीसरी कारिकाबा जो आ रही है वो भोग भेद को लेकर के कार्य रही है विश्व ही सूलभम नित्यम तेजस प्रवक्त भुक आनंद भुक तथा प्राच्य भोगम निबोधत तो ये पहली कारिका स्पष्ट ही जो है आत्मभेद को कथन कर रही है जो इनकी पहली कारिका आई थी उसमें कहा था भैष्प्रज्ञो विभुर विश्व प्रज्ञ सत जस घर सदा एक त्रिदास्मृत एक ही आत्मा को तीन आत्मा के रूप में कथन किया एक विश्वात्मा एक तेजसात्मा एक प्राज्ञात्मा और दूसरी कार्य का स्थान में वर्णन किया कहा दक्षिणाक्षी मनस्यंता हृदय आकाशे तीन स्थानों का वर्णन किया और स्थान वेद कार्य का कहा जाता है आत्म आत्मभेद कारिका स्थान भेद कारिका और अब भोग भेद कारिका आरम्भ होती है विश्व ही स्थूलभुम नित्यम नित्य ही यह विश्व नामक जो आत्मा है ना स्थूल वस्तुओं का भोग करने वाला होने से उसका नाम स्थूल भोग पड़ जाता है स्थूल विषक भोग से तृप्त हो रहा है तेजस प्रवृत्त भुगो और तेजस जो है सूक्ष्म विषयों का भोगता है और आनंद भुक्तदा प्राग्ञ और प्राग्ञ जो है आनंद का भुगता है इस प्रकार से तीन प्रकारों का भोग करने वाला वही आत्मा है ऐसे जानो विश्वादी का तीन तरह का भोग है विश्वादियों के अलग अलग तीन प्रकार का, का भोग है समझो स्थूलम तर्पदे विश्वम प्रविविक्तम दुदयसम आनंद श्रद्धा प्राज्यम त्रिधा तृप्तिम निबोधत इसे भोग प्रयुक्त तृप्ति भी अलग अलग है भोग प्रयुक्त तृप्ति भी एक प्रकार का है समझ समझो यथा भोग तद अनुरूप तृप्ति भी अलग अलग माननी पड़ेगी स्थूलम तर्पते विश्वम स्थूल के द्वारा स्थूल विश्व भोग से तृप्त होता है कौन विश्वात्मा और सूक्ष्म विश्व से तृप्त होता है तेजस आत्मा और आ प्राज्ञात्मा जो है आनंद रूपा विषय के साथ द्वारा तृप्त होता है अतएव तृप्ति भी तीन आत्माओं का तीन अपना अपना अलग विषय होने से तीन प्रकार की तृप्ति भी माननी पड़ेगी तीन प्रकार का आत्मा तीन प्रकार का स्थान तीन प्रकार का भोग और तीन प्रकार का तृप्ति भी है सब अलग अलग है करने वाला इन सब का अनुभव करने वाला एक है एक त्रिधा इसलिए ना एक त्रिधा भगवती का दिया है और एक ही तीन आत्मा बन गया वही एक तीन स्थान को धारण किया वही एक तीन विषयों को ग्रहण किया वही एक तीन प्रकार का तृप्ति को भी भोग रहा है और इन सब कार्य का अनुभव को निषेध करके आगे कहेंगे उत्तरीय है जो एक है वो तुरी है वास्तव में न इन भोगों से उसका संबंध है न इन तृप्तियों से संबंध है न किसी से उसका कोई संबंध नहीं ये भाव निश्चित करेंगे कल अभी तो कहना पड़ेगा वही एक तीनों में लग रहा लगा हुआ है सब कर रहा है त्रिशुधाम भोजम भोक्ता यश्चीर्दिद वेदे तद्भयम यस्तु स न लिप्य दे जमीन तीनों स्थानों में जो जो विषयों को उसने भोग किया और जिसको आपने भोक्ता पे नाम दिया विश्व करके वेरे तदुभयम यस्तो और ये दोनों प्रकार के वस्तु को जो जानेगा जो इस दोनों प्रभावों को जानता है सब जनो भी न थे वह सगल विषयों का भोग करता हो भी इन विषयों से लिप्त नहीं होता अपने आप को अलग रखने में समर्थ हो जाता है इतना विवेक जग गया ना वो समझ गया अरे मैं ये भी नहीं हूँ मैं ये भी नहीं हूँ मैं वो भी नहीं हूँ वास्तव में मैं विश्व हूँ न तो मैं तेजस हूँ न तो मैं प्राणी ये केवल उपाधियों से उपहित होकर मेरा अलग अलग नाम पढ़ रहे हैं अलग अलग प्रकार का विषय भोग कर रहा हूँ अलग अलग स्थानों में रहकर भोग कर रहा हूँ और अलग अलग प्रकार की तृप्तियां जो पा रहा हूँ वास्तव में ये मेरा अपना नहीं होने से मेरा इसे कोई संबंध नहीं है अतः उन भोगों से वह लिप्त नहीं होता कृष्णधाम समय जागृत स्वप्न सुशक्ति इन तीनों स्थानों में जो यद भोजन सुख और आनंद का नामक विषयों को उसने भोज्यों को भोगा है और भोक्ता बना हुआ इन विषयों के कारण से विश्व प्राग्ञ नाम से सुप्रसिद्ध हुआ था इन दोनों को जो उक्त रीति से जानता है वह क्या होता है इन स्थूल विषय आदियों को भोगते हुए भी उनसे वलिप्त नहीं होता है त्रिशुधामसो भाष्यकार कहते हैं जागृत आदिशो स्थूल विविक्त आनंदाक्यम भोज्यम स्थूल प्रविविक्त और आनंद नामक जो पूजिता एकम त्रिदाभूतम ये जान लिया है इन तीनों धामों में और इन तीनों विषयों को मैं एक हूँ त्रिदा विभक्त होकर के त्रिदा भोक्तृ भाव को धारण करके अनुभव कर रहा हूँ यश्च विश्व देश प्राज्ञा के उपभोक्ता किस रूप में हूँ मैं तभी विश्व देश प्राज्ञ नाम से हूँ इन जगहों में भोक्ता के रूप में एक सो हम वह यह जो मैं सो एक ही हूँ इति एकत्व प्रतिसंधाना इस प्रकार जब एकत्व प्रतिसंधान करने लगोगे तो दृष्टित्व अविशेषाच प्रकृति दृष्टित्व अविशेष कारण से विभाग कहा गया है तीनों का दृष्टा एक ही है करणाधीन जो व्यावहारिक सप्ताह से व्यावहारिक पारमार्थिकता से संपन्न करणाधीन होकर पहला और प्रातीत की सतता से युक्त कर्णाधीन होकर स्वप्न में और कर्ण आधीन होकर के अब सुशक्ति ये जो मैं अनुभव कर रहा हूँ अनुसंधान में करके देखता हूँ तो मैं मैं ही था ऐसा अनुभव आदमी कर लेता है दृष्टिगत एकत्व का अनुभव कर लेता है यो वेद उभयम भोज्य जो जिस प्रकार से व्यक्ति जान लेता है भोज्य भोक्त भाव से जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूँ ये दोनों ही स्वरूप से अनुभव नहीं भिन्न अनेक रूप से मैं भिन्न भिन्न हो रहा हूँ लेकिन वास्तव में मैं एक ही हूँ ऐसा जो अनुसंधान करता है सब जानो न लिप्य दे भोज्य से सर्वस्व एक भुक्त क्योंकि निर्णय हो गया भोज जो कुछ भी है वह एक भोक्ता का ही भोज्य होगा अलग अलग भोक्ता नहीं अलग अलग भोज्य नहीं अलग अलग तृप्ति भी नहीं अलग अलग वास्तव को स्थान भी नहीं है नहीं ऐसी यो विषय सत्य निश्चित वर्धते जिसका जो विषय होता है उसका उस विषय से वह व्यक्ति न तो घटता है न तो बढ़ता है न ही अग्नि विषय दग्धवा काष्टादि तद्व जैसे अग्नि अपना विषय होता काष्टादियों को जला करके न तो बढ़ता है न तो घटता है अग्नि तो अपना स्वर्ग में जैसा है वैसा ही है और उसको जो बाई जो देख रहे आप लौ का बढ़ना घटना वो तो जैसा उपाधि वैसा किसी उपाय से धुआं तो जगा रहा है आग का लपट कम निकल रहा है किसी उपाय से लपट जा रहा है धुआं तो नहीं के बराबर है और आज ऐसे उपाय लिया है धुआं तो दिखता ही नहीं आग ही आग दिखता नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आग बढ़ रहा है या घट रहा है आग उन उपाधियों को जलाता आग का अपना स्वरूप तो एक है अग्नि का एक ही स्वरूप है ना वो कठोपनिषद में अग्नि को भुवनम प्रविष्टो है ना वहाँ पर हाँ। कठोपनिषद में था अग्नि को हाँ, स्पष्ट ही बोला जैसा अग्नि क्या वो एक स्वरूप वाला है लेकिन उपाधि में प्रविष्ट होकर जो है वह बहुधा हो गया अनेक प्रकार का जैसा उसी प्रकार हम भी एक स्वरूप वाले उपाधियों को अलग अलग धारण करके कहीं कुछ कहीं कुछ अभिमान कर रहे हैं ये अभिमान नहीं सब बिगाड़ा है नहीं तो कोई मतलब ही नहीं इन विषयों से कोई संबंध नहीं हम अलग ही है लेकिन उसके साथ जो में कर लेते हैं ना जो अपना सत्य रूप को इस अंतरित रूप के साथ में सत्य अंतरित को मिथुरी भाव में जो ग्रहण कर लेते हैं एकीभूत करके अध्यास करके जो ग्रहण करते हैं वही तो समस्या आ रहा है श्रुति हजारों प्रकार से बता रही है लेकिन उसको हम ग्रहण करते नहीं उस प्रकार से अनुभव करने की चेष्टा नहीं इसलिए कहते कि देखो यश यो विषय सत्य नहीं हीयते नहीं वर्धते दृष्टान क्या है जैसे कि देखो ही अस्मार नहीं अग्नि स्विषम तत्व आदि जैसे अग्नि अपना विषम आदि को जला करके न वास्तव बढ़ता है न घटता है पहले जैसे था वापस उसी रूप में पहुंच गया पहले अव्यक्त था फिर अव्यक्त में चला गया बीच में केवल उस उपाधि के माध्यम से ही उपाधि के कारण से उसी उपाधि में ही व्यक्तता को प्राप्त किया और जैसे उपाधि लय हो गया कहा गया हो अपने स्वरूप में अव्यक्त स्वरूप में चला गया इसी हम अव्याकृत में थे अव्याकृत से व्याकृत में आ जाते हैं फिर अव्याकृत में चले जाते हैं यानी व्याकृत और अव्याकृत भी जिसमें कल्पित है उसमें हम वास्तव में रहते सदा वही तुरी अवस्था की ओर ले जाने के लिए सब व्याख्या कर रहे हैं सर्वभावान सताम विनिश्चय सर्व जनयति प्राण चेतो वंशन पुरुष पृथक कद विद्यमान सताम सर्वभावान विद्यमान ही सकल पदार्थों का भाव पदार्थों का विश्व तैश प्राज्ञादि प्रभेदों का उत्पत्ति होती है प्रभव इति विनिश्चय असत कार्यवाद को नहीं मानते विद्यमान की उत्पत्ति है अविद्यमान की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती सदा सज्जाए तो कदम असदा सज्जाए तो ऐसे छांदोगी में स्पष्ट लिखा है सत से ही सत की उत्पत्ति होती है असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है अरे सत्य जो विद्यमान है बस अवय संस्कार विशेष प्रारूप अंतर हो गया और कुछ वस्तु तो पहले से ही है विद्यमान वस्तु को ही हम उसके अवयव सन्नि विशेष विशेष दृष्टिया उत्पत्ति का कथन कर दे आप मूर्ति के कलाकारों को देखेंगे तो ये बात स्पष्ट अनुभव होता है मूर्ति का कलाकार क्या करता है वो आप फोटो दे देंगे ये चीज का बनाना है अच्छा चलता है और जितने पत्थर रखे हुए हैं वहाँ उस फोटो के साइज के अनुरूप पत्थरों को सामने खड़ा हो जाता है पत्थर में देखता है हमको तो कुछ दिखा नहीं हाँ, वो देख रहा है हाँ, छोटे मारे को ढूंढ रहा है उस पत्थर के अंदर अपने मर्जी का मूर्ति बनाने के लिए गए फोटो दिया पांच छह फोटो में से दो फोटो उसने चुन लिया और उसमें से आप जाके घर में देख रहा हो इधर देखता है उधर देखता है अरे हम क्या देख रहे हो भाई तुम ऐसा वजह में नहीं आ रहा तो सब एक घंटा लगाया उसने बीसों पत्थर के सामने चक्कर काट लिया अंत में कहता है महाराज हमसे बनेगा नहीं क्यों भाई कहते हैं इनमें से किसी पत्थर में आपको मूर्ति नहीं दिखाई दी तो अच्छी क्वालिटी का देखो फिर चलो चलते फिर वो खा उस गुदा में ले गया वहां घूमते घूमते घूमते एक पत्थर के सामने वो खड़ा ही हो गया खड़ा हो गया कहते सामने का जब बात है ईश्वर मूर्ति है इस पत्थर में अब गुरु महाराज है अरे कहा है यार तो, तो बकवास करता है वो कहते नहीं है ये इसके दिख रहा है हमको तो इस पत्थर में दिखाई दे रहा है अरे चलो भाई तुमको दिखाई दे रहा है तो तुम कर दे फिर काम फिर उसने उसने मार्किंग वार्किंग किया और मजदूरों को बुलाया पत्थर को उठा के पर मंगा लिया सरकार तीन महीने बाद आई है तीन महीने के बाद गए तो उसने पहले मिट्टी का बना रखा था उसको दिखाया देखिए ऐसे ऐसे यही हमने उसमें देखा हुआ है अब ये आपको पास है तो हम उसमें स्टार्ट करें काम चालू कर देंगे तोड़ फोड़ करके क्या फायदा पत्थर को तो उसको देख करके हम लोगों ने जो जो सुधार किया सब करने की वजह और भी दो चार भगत को बुलाया दिल्ली से उसने भी सब देखे मिट्टी का बना उसको और फिर उसमें जो भी उन लोगों ने साहब ने सिस्टम दिया सबके हिसाब से उसने बना दिया अब फिर कहा कि अब इसके हिसाब से ये बन जाएगा अरे उसको तो पहले से दिख रहा है ना भले हम लोगों की दृष्टि नहीं है लेकिन उस पत्थर में उसकी वो मूर्ति उसको दिखाई नहीं तो बना ही नहीं सकता है तो पहले से विद्यमान है ना पत्थर में नहीं है उसके लिए तो विद्यमान है हमारे लिए बोले नहीं है लेकिन उस कलाकार के लिए उस वह उसके अंदर विद्यमान है उस विद्यमान वस्तु को ही उसने अभिव्यक्त करा दिया खूब छीनी वनी मार और की ठीक ठाक करके उसने जो उसको अभिव्यक्त कर दिया इसलिए कहते कि व्यवहार तो वास्तविकता है इसे उसे घड़े बनाने वाला भी देख लो उसे मन में घड़ा है उस मिट्टी में जो पिंड के अंदर वो घड़ा दिखाई दे रहा है तो बन जाता है नहीं तो नहीं बने इसलिए आपके मस्तिष्क में पहले वो कार्य संपन्न होनी चाहिए जैसे रसोई घर पे है वो पूछते हैं पहले क्या आप चाहेंगे क्या आप खाएंगे क्या बनाओ क्यों पूछते ये कुछ बना ले और खा ले ऐसे नहीं होता है ना बना गया हलवा हो गया पूरी ऐसे थोड़े हो जाएगा पहले से मस्तिष्क है वो तैयार कर लेते हैं वो चीज उसके अंदर दिखाई देता है उसके उपादान कारण अध्यक्ष इसे प्रवृत्ति के प्रति उपादान का अध्यक्ष भी कारण कहा यहाँ दर्शन पड़े है ना सुनिए प्रवृत्ति के प्रति कितने कारण है, है? चार कारण है कौन से कौन से चिकित्सा कृति साध्यता बलवज अनुबंधिता और उपादान अध्यक्षता ये चार क्यों ना प्रवृत्ति होती नहीं है उपायन कारणों का ज्ञान होनी चाहिए और उस उपायन कारण आपको ये जानना चाहिए कि मेरा जग कृति का साध्य ही है और मेरे इच्छा का विषय इसके अंदर है और कोई बलवलट नहीं है जिसको हम अपना कर कोई कार्यक्रम पालन कर रहे हैं कोई ऐसा अनुबंधी नहीं है ये जब निर्णय हो जाता है तब व्यक्ति प्रवृत्त होता है अनुसुपान कारण में वो अपने चिकित्सित वस्तु को सबसे पहले देखता है वो जानता है कि मेरा उपादान ये है मैं मूर्ति बनाना चाहता हूँ तो उसका ये पत्थर है फिर मेरा चिकित्सित मूर्ति कौन सी चेहरा कौन सा है वो उसके अंदर है या नहीं वो देख लेता है फिर ये भी देख लेते हैं इस पत्र में इसको बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ कृत का निर्णय करता है फिर बलोबद हर्ष के अनुमानित्व की परिकल्पना करना पड़ता है कि क्या बता बाद बाद मर जाए एक को मान लेता है कि भाई इसको बनाने में कोई वर्तमान में तो ऐसा अनिष्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हमसे कहता है छह महीने के अंदर आपको बना के दूंगा किसी जब मर जाए तो आप लड़ोगे क्या वहाँ मृत्यु आ गई बलोधनिष्ठ क्या करोगे लेकिन जब वो प्रवृत्त होता है तो ये मान के चलता है बलवध अनिष्ट का अनुबंधी नहीं है यानी जो सामान्य रूप ने क्या लिया नरकारी को देने वाला तो नहीं है ये निर्णय करके फिर वो आगे बढ़ता इसलिए सब जो विद्यमान है ऐसे भाव पदार्थों की ही उत्पत्ति हुआ करती है यह सभी के द्वारा निश्चित किया गया है यदि कुछ लोग अन्य लोग अन्य अन्य कारणवाद लाएंगे भी बताएंगे अन्य अन्य कारणवादों को संक्षेप में दिखाएंगे विस्तार से अगला प्रकरण में होगा सर्वम जनयति प्राण ऐसे सर्व भावों को कौन उत्पन्न करता है प्राण से उत्पन्न प्राण होने से वही अव्याकृत ये प्राण नहीं लेना जो आपकी चल रही है और सातवें मंत्र के लिए बीज बो देते हैं इस कारिका में चेतो अंशन पुरुष पृथक वह पुरुष से ही ये सब चेतो अंश उत्पन्न होते हैं जीव चेतोष कहने से जीवात्मा चिदाभास रूपी जो जीव को भी प्रकट करता है कौन चेतन इसे दोनों का कार्य कारण मैंने यहाँ पर चेतन और जड़ जगत का विचार चल रहा है चेतन अचेतन जगत उत्पत्ति का विचार हो रहा है चेतन जगत की उत्पत्ति चेतन से ही हुआ जड़ जगत की उत्पत्ति जड़ से ही हुआ चेतन जगत कौन है जीव इसकी उत्पत्ति कहां से हुई पुरुष से ही चेतन से ही हुआ और जड़ जगत है उसकी उत्पत्ति प्राण से हुआ जड़ से हुआ व्याकृत से हुआ लेकिन चेतन से चेतन की उत्पत्ति कैसे उधर तो निर्विकार है तब कहेंगे जड़ उपाय पहला पैदा हुई उनमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ना ही चेतन की उत्पत्ति है और अलग कुछ नहीं है चेतो अंशून सूर्य की उत्पत्ति हुए बिना सूर्य की रश्मि कहा से होगा अंशु में रश्मि किरण जो अंशु कहा से आएंगे अवयवी के बिना अवयभूत अंशु उत्पन्न नहीं हो सकता वह अंशु जो हमें प्रतीक प्रतीत जो हो रहा है वह बिंब का एक प्रतिबिंब मात्र ही है इसे आते हुए जड़ चेतन जो हम जगत को देख रहे हैं दोनों का उपादान कारण अलग अलग है है दोनों ही भाव पदार्थ और ये उत्पन्न होते ही है जो जो भाव पदार्थ होगा वो उत्पन्न मान नहीं बढ़ेगा कहने का तात्पर्य विश्व तेजस प्राग्ञ उत्पन्न वस्तु है अदेव क्या निषिद्ध करना है हाँ ठीक ही तो है जगन मिथ्या कैसे है बताओ ये तो कर रहे हैं क्यों क्यों यहाँ भी तो है व्यावहारिक सत्य है दिक्कत क्या है हाँ, कोई दिक्कत नहीं है देखो कार्य में कारण का अंश मात्र आता स्वरूप मात्र आता है ये नहीं है कि मत सोचो हमेशा कार्य का अत्यंत अभिन्न होता है अभिन्न फिर कार्य ही नहीं है कारण ही कहो फिर कार्य को बोल रहे हो हाँ उत्पन्न नहीं हो ठीक है इसलिए कि जिनको दिखाई दे रहे उनको व्यवस्था तो देना पड़ेगा ना समझाना पड़ेगा ना पहले उनको ये समझाओ कि उत्पन्न हुआ मान रहा है वो जड़ दिख रहा है ना जट चेतन दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है तो उसको समझाना पड़ेगा फिर जो दिखाई देगा भाव पदार्थ उसकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी यदि उत्पत्ति आ जाएगी फिर किस उत्पत्ति होगी फिर क्या फिर उस उत्पत्ति सत्य है ये बाद में विचार करेंगे समझाने के वैसे तो जाना पड़ता है क्रमशः जगत मिथ्या तुम तो रट लिए है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या लेकिन किसको जगत मिथ्या है किसी को नहीं है <laughs> है? <laughs> वो तो व्यावहारिकता का तो विचार हो रहा है उत्पत्ति का जब बात है तो व्यावहारिक सत्ता को लेकर विचार हो रहा है विचार होता ही व्यवहार में परमार्थ विचार भी नहीं होता बातें खत्म हो जाती है वहां आप ना बोलोगे ना मैं जवाब दूंगा आप बोल कैसे रहे हो आप बोल रहे हो इसका मतलब व्यवहार में है व्यवहार में फिर जल क्षेत्र विभाग है गुरु शिष्य विभाग है विचार तो करेंगे अब कहा से है फिर व्यवहार इसकी उत्पत्ति तो माननी पड़ेगी उत्पत्ति है तो फिर कहाँ से है फिर वास्तविक है या नहीं फिर पहले इसको बात करो अध्यारोप पहले करना ही पड़ेगा अध्यारोप के बिना अपवाद करके मिथ्यात्व का अनुभूति नहीं कर सकते ये क्रम से ही आपको जाना पड़ता है वही क्रम को आप आगे बता रहे हैं अभी तो आप तुरी अवस्था की बातें ही हो रही ये तो हो ही रहा है जागरूक का परमार्थ कहा लाया है परमार्थ तो आया ही नहीं अभी तक तीन जो अवस्था हैं उन अवस्था के अभिमानियों की जो है भेद को लेकर के सारा विचार चल रहा है उसी पर ये कारिकाएं हैं नौ कारिकाएं आएंगे ये तो छठी कारिका चल रही है तो सताम भाषिकार देखो अब कहते सताम विद्यमान राम स्वेन अविद्या कृत नाम रूप माया स्वरूपेण सताम का तात्पर्य पारमानिक नहीं सताम का विद्यमान राम पारमार्थिक रूपेण सदाम ऐसा क्या नहीं सत्संकार परमार्थिक सत्य भी नहीं है केवल विद्यमानता मात्र से कहा जा रहा है विद्यमान वस्तु केवल रूपेण विद्यमान है स्वेना अविद्याकृत नाम रूपम माया स्वरूपेण अविद्याकृत नाम रूपात्मक जो मिथ्या स्वरूप या माया का मिथ्या अविद्याकृत नाम रूपात्मक मिथ्या स्वरूप से विद्यमान नाम सर्वभावान भाषकर अपने तरफ से मिथ्या तो जोड़ के ही बोलेंगे ताकि आपको वहां तक पहुंचा है ना फिर कैसे मिथ्या बोलोगे समझाएंगे फिर तो कौन है वो सर्वभाव वर्तमान प्रकरण में विश्व तय प्राग्य भेदाराम और वह मन उत्पत्ति ही अब केवल निश्चय कैसे आप निश्चय कर दिया वक्ष्य और आगे स्वयं कार्य का कार्य कहेंगे वंद्या पुत्र माया वाप जायते वंद्या पुत्रो न तत्व मायापी मायावापी न जायती तत्व उत्पत्ति तो नहीं होगी तो में उत्पत्ति नहीं होगी तत्व तो तो भूल जाओ तो उत्पत्ति भी उसकी नहीं हो सकती है और ये भी उसी के समान है ये जगत भी जिसको आप तत्व तो उत्पत्ति मान के विचार कर रहे हो वास्तव में इनको मिथ्या उत्पत्ति मैं व्यवहार बता रहा हूँ और विचार करके देखे अंत में मिथ्या उत्पत्ति इसकी भी नहीं हो सकती आगे जाके बोलने वाले पहले तो विचार करके तात्विक उत्पत्ति हो रही है तो तात्विक उत्पत्ति किससे हुई विद्यमान की अविद्यमान की विद्यमान की होती है मान के चलो फिर उसमें इसकी तात्विकता पर चिंतन करो क्या ये उत्पन्न वस्तु वास्तव में तात्विक है नहीं मिथ्या है मिथ्या है फिर उत्पन्न कैसे हो गया मिथ्या उत्पत्ति किम कृतम तरी उसको भी जोड़ दिया अविद्याकृत नाम रूपाभ्याम एवं मिथ्या उत्पत्ति कहेगा अविद्या कहा से चलते चलते आपको आना पड़ेगा वहां से मिथ्या उत्पत्ति भी नहीं न तत्व न माया वापी जायते वक्ष्यति यदि असताम एव जन्म उबिला यदि असत वस्तुओं की जन्म मान लोगे असत वाले लोग मानते ना कार्य असत व्यर्थ अविद्यमान था मृतिका में अविद्यमान घट अविद्यमान हो गया ऐसा है क्या कहते ऐसा कभी नहीं हो सकता फिर ब्रह्म भी अव्यवहारी हो जाएगा ब्रह्मणो अव्यवहार्य ग्रहण द्वारा भाव असत्य प्रसंग अब हम ब्रह्म का हम अनुभूति कर सकेंगे यह ब्रह्म है कि सारे पर बोल रहा हूं कार्य को लेकर के बोल रहा हूं कि कार्य रूपी लिंग से कारण का अनुमान होगा यदि कार्य कारण में होता ही नहीं फिर कार्य भी लिंग कारण का अनुमान कैसे करेंगे यही संबंध तो रहा नहीं कार्य का कारण के साथ आगे बहुत विचार करके बताए मेरे को किसी भी कारण से कोई चीज हो सकता है यदि पट तंतु में विद्यमान नहीं है पट के तंतु के पीछे क्यों भागते हो फिर क्यों तुम तो इकट्ठा करना है घट को बनाने के लिए मिट्टी मिट्टी को क्यों इकट्ठा कर रहे हो किसे भी बना लो तीसरे कहते कि देखो कि ग्रहण का जो द्वार था ग्रहण में ज्ञान ब्रह्म के ब्रह्म कैसा है अव्यवहार्य अव्यवहार्य ब्रह्म का ज्ञान कैसे करोगे अव्यवहार्य ब्रह्मणो ग्रहण द्वारा बाबा ग्रहण का द्वार ही नहीं रह जाएगा यदि आप असत की उत्पत्ति मानेंगे तो यदि असताम एवं जन्म सी तो अव्यवहार से ब्रह्मणो ग्रहण द्वार एवं अभाव असत्य प्रसंग ब्रह्म भी असत है कह दो तो, क्या कहते हैं ब्रह्म शून्य असत है आपत क्या हो रहा है पूर्ण के पीछे क्यों बढ़ रहे कोई कहे ठीक है ब्रह्म असत है ब्रह्म शून्य है ऐसा मान लो ऐसे कैसे मान लूंगा भाई फिर जगत कहाँ से आ गया बिना अधिष्ठान का हो गया क्या फिर जगत बिना अधिष्ठान का हो सकता है दृष्टन सर्वादी नाम अविद्यागृत माया बीजोत्पन्ना नाम रज्वाद्यात्मना सत्ताम कहते हैं क्योंकि हम तो यही देखते हैं संसार में अनुभव हुआ कि रज्जु सर्प आदि जो मिथ्या बोधा वस्तु जितनी भी है रज्जवादी आत्मना सत्वम रज्जवादी रूप से उनकी पहले सत्व ही अनुभव होता है इसे उसी सत्व का हम निषेध करते हैं हम निषेध किसका कर रहे हैं रज्जो में सर्व का निषेध करोगे में सत्य हाई तो निषेध क्या करोगे सर्प निर्मित सत्व का निषेध करेंगे हम सर्पो नास्ती सर्प निरूपित सत्व जो आपने शुक्ति रज्जु में मारा था यह शुक्ति में जो रजत ने कविता सत्व पर स्वीकार किया था उसे सत्व का निषेध करता हूं मैं जब सत्व निषेध हो गया उस सत्व का विशेषण होता वस्तु अपने आप निषेध हो जाता है उसको निषेध करने की जरूरत नहीं है इसलिए का कहना है देखो रज्जवादी रूप से सत्व की ही अनुभूति होती है नहीं निराशपदा रज्जो सर्व मृग दृष्टि काल क्वचित उपलभ्यंद के नचित निरास्पदा निर्दिष्ठाना रज्जु सर्प मृग का आदि वस्तुओं की कभी भी किसी के द्वारा भी कहीं भी उपलब्ध नहीं किया गया है कोई नहीं कर सकता इसलिए इस ब्रह्म को भी आप असत है शून्य है कह दो ऐसा कह नहीं सकते जगत की उपलब्धि कैसे होगी ये जगत अनुभूति जो हो रहा है ये निरष्टान कैसे हो सकता जिनको जगत अनुभूति नहीं हो रही उसकी बात नहीं कर रहे स्पष्ट ही कह रहे ना उपलब्धि होगी जो जैसे रज्जु सर्प की उपलब्धि हो रही है आप उसको एक अधिष्ठान मानेंगे ही इससे आपको जो है विशुद्ध इस प्राप्त जगत की अनुभूति हो रही है तो निश्चित से आपको भी मानना पड़ेगा इसका भी कोई अधिष्ठान है और ये भाव होने के नाते इनकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी नित्य तो है नहीं ये भी अनुभव सिद्ध है कोई विशुद्ध इस प्राग को नित्य भी नहीं कह सकता न तो नित्य जागृत है न तो नित्य स्वप्न है न तो नित्य सुशक्ति है काल से परिचिन अनुभूति होने के कारण से काल से परिचिन उत्पत्ति भी इसकी माननी पड़ेगी उत्पत्ति माननी पड़ेगी तो निरुष्टान जो सत्व रूपेण अनुभूति है इसकी उत्पत्ति निरुष्ठान होकर नहीं हो सकता इसका अधिष्ठान मानना ही होगा यथा रज्वा प्राप्त सर्पोत्पत्ति है रज्वात्मा सर्प निवासित जिस प्रकार देख लो रज्जु में सर्पोत्पत्ति से पहले वह रज्जु रूपेण सर्प विद्यमान है रज्जु रूपेण और मिथ्या सर्प वहां पर है मानना पड़ेगा नहीं तो कैसे दिखाई देता उसमें दीवार में क्यों नहीं दिख रहा आपको सर्प है? हाथी को देखो कोई सर्प नहीं माना आज तक क्यों नहीं मान रहे भाई कहीं ऐसी भ्रांति हो नहीं सकती है ये सर्प हम रज्जु रूपेण ही देखते हैं सर्प को रज्जु रूपेण पहले विद्यमान था आते उस रज्जु में हम सर्प को देख सकते हैं जो चीज जिसमें पहले से विद्यमान रहेगा उसी चीज को उसमें हम बातें देख पाएंगे इसलिए मूर्ति को पहले उस पत्थर में मूर्ति रूपेण उस पत्थर में विद्यमान मान रहा है लेकिन सावे मूर्ति रूपेण नहीं मान रहा है पत्थर रूप से मूर्ति को देख रहा है अब मूर्ति रूपेण पत्थर को हम बाद में देखें पहले पत्थर रूपेण पाषाणात्मना मूर्ति विद्यमान है उसके बाद में मूर्ति पाषाण रूपेण दिखाई देगा हमें फर्क ये है मूर्ति रूपेण पाषाण बाद में और पाषाण रूपेण मूर्ति पूर्व में होगा यही पाषाण रूपेण मूर्ति वाद्यमान विद्यमान नहीं है फिर तो बाद में उस पाषाण से मूर्ति उत्पन्न भी नहीं हो सकता इसलिए विद्यमान मूर्ति लेकिन विद्यमान मूर्ति किन रूपेण स्वस्वरूप विद्यमान नहीं है मूर्ति मूर्ति वहां पाषाण रूपेण विद्यमान रज्जु भी स्वस्वरूप विद्यमान नहीं है दल तो रज्जु रूपेण विद्यमान कहने का तात्पर्य इतना है कि भाई यहाँ विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति हो सकती है और कोई रास्ता हम्म। हाँ वो भी जवाब देंगे चिंता ना करो आएंगे सभी में एवं सर्वभावान उत्पत्ति प्राण बीजात्म नहीं वसत्तम एवं सर्वभावान उत्पत्ति प्राप्त से हम आपको संकेत कर देते थोड़ा सा जवाब आपने यहाँ आकाश के रूप की भ्रांति की ना इसका मतलब है कहीं तरह आकाश में सत्य रूप होता है आप सर्प में तो घटा लोगे सर्प में तो कह लो लेकिन ऐसे हजारों दृष्टांत हम गिना लेंगे एक मैं बता रहा हूँ केवल हजारों ऐसे दृष्टांत है जिनको आपने पहले कहीं देखा भी नहीं होता भी नहीं है सर्व सिद्धांत स्वीकृत है वो आप यहाँ अनुभव कर रहे हैं ऐसे एक नहीं पचासों दृष्टांत तो एक हमने सुप्रसिद्ध किया कि नया कर कोई भी नहीं मानता में और हम अभी भी दिख रहा है नीला रंग दिख रहा है दिखाई दे रहा है ना इसलिए कोई जरूरी अन्यत्र सत्य रूपेण पारमार्थिक सत्य रूपेण अन्यत्र होने पर ही अन्यत्र उसकी भ्रांति होती है कोई बात जरूरी नहीं है इसलिए का कहना है ये सर्वभावारोपत्य प्राण बीजात्म नहीं व सत्यम इसलिए सकल भावों की उत्पत्ति से पहले ये सकल भाव जो है प्राण रूपी बीज रूप से कारणात्म रूपी जो कारणात्मा रूपे नहीं यह सकल कार्य भाव कार्य उत्पन्न है उत्पन्न से पहले रहते हैं ऐसा मानना पड़ेगा इतने तो श्रुधिर अभिव्यक्ति इसमें श्रुति भी कहती है ब्रह्म इदम सर्वम आत्म इदम अग्रसी इत्यादि इदम सर्वम ब्रह्म रूपी नहीं हुआ आसी पूर्वे उत्पत्ति पूर्व काल में यह सारा जगत ब्रह्म रूप में ही था अव्यकृत वही कारण ब्रह्म रूप में शुद्ध ब्रह्म नहीं है वो भी अभी शुद्ध ब्रह्म की चर्चा ही नहीं हो रही है तो कार्य कारण भाव की बात हो रहा है अब शुद्ध में खिचड़ी मत करो हाँ जो हाँ जिस प्रकरण में जो चर्चा हो रही हो उसको ग्रहण करो नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा मांडक समझ में नहीं आई पहले कहा था मांडक की तरह कठिन है अब ब्रह्म शब्द से शुद्ध में घुस जाओगे फिर सब घटेगा कि सारा मामला ठप हो जाएगा अब यह कार्य कारण भाव की बात हो रहा है तो कारण ब्रह्म की बात हो रहा है यहाँ सर्वम जनयति प्राण इतना ही नहीं जिस प्रकार से सभी को प्राण कहते सर्वंजने भी प्राण इसकी व्याख्या नहीं कर रहे क्योंकि पहले विचार हो चुका है अव्याकृत आत्मा आप रूपये आपका आपका रूपये प्राण से ही जगत बन हुआ है इसकी इसलिए व्याख्या नहीं कर रहे ये तो स्पष्ट पूर्व में विचार हो चुका है चेतो अंशुन इस पर व्याख्या करेंगे अंशव इव रवे है जैसे सूर्य का अंश होते हैं किरण होते हैं